भरतार भर अमली भरतार सदामन भामनो रोमंग चढ़े आशावार के पूरी खेला मनो जगे दी गलनी ताशरी प्याला भर पावनो पन्ना सदा सुरंगे साथ पधारो प्रामणा सुन सोबीरी कामणी तने के अमली चिनार ए भाई लिखी आ जाने लाभ जी के भर अमली भरतार भर अमली भरतार सदामन भामनो रोमंग चढ़े आशावार के तुरी खेला वाह त्रिजठी गलणिताशणी प्याला भैर पावणो प्रणदा सदा सुरंगे साथ पधारो प्रावण जुगा बाबा करना भगवत गाया है अमल भाई ये भूडो है नकरो हकरो है और भूडो है तो एक तो सोफीरी लुगाई गरी बनवाजा एक बनानी की लुगाई तो बा लाण मेरी हाथन हम्म। होपी वाली लुगाई वा हो बनानी की लुगाई जो बिने होकर उठा बिने चिलम रोठा बिने अमद रोठा बिने बीड़ी रोठा और वो अमल ले जाए जगह रोठा मेरे हर की बिनठा हो कोई आपद तो में पिंगट गाटे जायपरी ए रस्ते बुई जे घूम घूमाड़ा गागरा भड़े सिर पर तांबेड़ा मुमला हंदी छोर की जाने आरा की घोड़ा घूम घूमाड़ा गागरा सिर पर तांबेड़ा मुमला हंदी छोकरी जाने आरा की घोड़ा टूटे गहरे संधो लगे बड़े सुने महल चिराग रूठा साधन ऋण मिले बटे आज अमल टूटे गहरे संधो लगे बड़े सुने महल चिराग रूठा साधन ऋण मिले बटे आज अमल राग जुगा बाबा आज अमल राग अवे नहीं कटी दूजी छोड़ जा रहे हूँ बंदानी आदमी हूँ हाँ। उगे टाल में कहीं है कोई नहीं आज अमल राग राजमती ओर रे कामण गावे गीत जे गिन घोर रे घूमर खाता घेर हाँ। जावे चिल्ला सु गागरा हाँ। पण किती लग बाखान करू किशन आगरा जुगा बाबा करना भगवत गाए प्रथम हाथ पग पातड़ा केरक आम हो पी लुगाई बोले हाँ। प्रथम हाथ पग पातड़ा केरक पातड़ी किरोई ढूंगे ढड़किया मास इद का आख्या रे सोई पड़्यो करे पेशाब रह पड़दारे माई खेर खगेर ने खेरू करे निपट नाकी में बोले के लागिया हम अमल नहीं छूटा वो ठाकर हां वो मल उगना तरा करे वाह डालू बाबा जुगा बाबा अमल कहड़ो हाँ। के बड़े जो जना सुबेर पणा तो हुए सही बा गुण के जना ने जहर तू कालो अमृत किस लिया बड़े जो जना सुबेर पणा तो हुए सही ओ गुण के जना ने जहर तू कालो अमृत किस लिया बा तो ए पिलिंग टे गया टे भूई जावे જાવે અરે ભાઈ તું મોડી ગણી આવે કે ભાઈ મારે હે પતિ રાજા हूँ हूँ हमारी पत्नी श्रीमंती स्त्री हूँ सीता कुंता द्रौपदा गौतम वर लिखनार तारा दे मंडोवरी बैसात सती संसार सीता कुंता द्रौपदा गौतम वर लिखनार तारा दे मंडोवरी सात सती संसार हूँ तो भाई इज्ञा कारण हूँ हाँ। तप तेज जन एक जोटी सगति भगति हाँ। भैरपूर पति की भैया निकलंग है कछु कलंक नहीं जुग ज्योत प्रकाश झलक रही है सूर्य चंद्र गणेश महेश मिले सूर्य चंद गणेश महेश मिले जब ब्रह्मा विष्णु गुंज कर है किन की कुल में किन की पत्नी किन की धीकू पार तर है पर सती दान शेखावत ब्याव नहीं वाह हूँ तो भाई पति बर्दाश्त हूँ हाँ। मारे पति भी मने हुक्म करे कि हमें जाओ ठकरानी साहब पानी लिया वो घड़ो भर लावो हम्म। तो भाई मैं हूँ तो आई जे निंदना मारी वाणी में हूँ आई देखो नहीं ए आथी की ये काली भाई आथी की गरगा दनी कूटी थोड़ी गिंसी गणी भूली कंत भरोसे तेरे मैं बैठा फिर कहीं मेरे आथी बात की ये काली भाई इतो के हारे में है तू वाह लालू बाबा जुगाम बाबा ए भाई हारे में हूँ यूं के संग जड़ जावे नारिया नर मर जावे कट बालकिया सुनार में उन घर में रजवट जड़ जावे नारिया नर मर जावे कट बालकिया सुन उन में उन घर में है हाँ, हाँ। जुगा बाबा जना भगवदगा बात में हुकारो फौज में नगारो आगदा धीरी री री री री यागदा धीरी री दाल बाटी ने हुकार देने ऊपर की जुगा बाबा जिये देव सभा जिये सभा गो छत्रधारी हाँ, जिये दादा शाह जिये सारी सभा गरीब बनवाजा गरीबा पालकर छिदया तो धर्म को मूल है पाप मूल अभिमान तुल तो छिदया न छड़िए जब लग घट में प्राण दिया धर्म को मूल है पाप मूल अभिमान तुल छिदया न छड़िए जब लग घट में प्राण फर तो बेगियारी हाँ भाई फर तो ये हुक्म दिनो बेगी आजियो नहीं ना भाई हुक्म ही ताबीदार हूँ हुक्म करी पति राजा जना बीरो वाह यूं करती कर दिया जाती एक काली बाई सुन सोफरी कामणी तने क्यों अमली ची नार लिखिया जाने लाभ सीधे के बड़े अमली भरता बड़े अमली भरता सदा मन भावनो और उमंग चढ़े अशवार के तुरी खेला होनो त्रिगेठी गलणी तासड़ी प्याला भर पावनो पण ना सदा सुरंगे साथ पधारो प्रावण पावणा काली बाई थने ठाकुर के ना बाई मेरे हैंग होनी हम्म। कहीं कोई नहीं भले न कब राता न कब माता न कब पीठ पम्म के आया और लानत हो मेरे दोषत को जो पिए को पोषत कौन सिखाया न कोई राता न कोई माता न कोई पीठ पम्म के आया और लानत हो उन दोषत को मेरे पिए को पोषत कौन सिखाया भाई ही खाए दिनों पर मैं कहीं वे अमल का बदानी है हम्म। मैं हूं जो कहीं वे को नहीं अड़ी बात है हाँ ओहो हो हो वाह रे वाह वाह सती देवी वाह तू तो सती है धर रे धर तू ध्यान हृदय में कोज न कोज उपाय मती कर रे शंख मती तरवार न बार दबीज भेजा कर रे ऋषि के ऋषि पाल गोपाल धनी तहा तुम बल भद्र कहा धर रे धर रे धर तू ध्यान हृदय में कोज न कोज उपाय मती कर रे शंख मती तरवार न बार दबीज भेजा कर रे ऋषि के ऋषि पाल गोपाल धनी तो के मारण हार तको को करुणा कौन रे जुगा बाबा करना भगवत का एक गरीब बनवाजा एक छोटो सो पपैयो जिके के मां थोरो नुकतो बीच में बड़े माथे बैठो है अच्छी नो आए निकलियो है मन मरे माया मरे मरे मरे गए शरीर आशा तृष्णा न मरे भाई कहे कि दास कबीर मन मरे माया मरे मरे मरे गए शरीर आशा तृष्णा न मरे भाई कहे कि दास कबीर તો ભગવાન નહીં મારે જગાને કોઈ મારી કો શકે વાહ હાટીને હું આયડી નીકળ્યો લે તીર કબા લે તીર અમે પર હુકોડો માથે પાન ની બહુ પંછી ભગવાન કો વ્યાકરણ કરણીઓ વાહ કેડો के हे भगवान ज्योतिष रूपी दिन हो दुख धारण कारज सारण भगत युवारण भगमंतु भीम हाँ, हाँ। मेरे घाणु मेर मथाणु डब्बा ताणु सर उसराणु रोड चबद्धेर तनाणु दिन हो दुख धारण कारज सारण भगता तारण भगमंतु हो भगता तारण भगमंतु जुगा बाबा ये देव सभा जिये शबा गो छत्रधारी जिये हरणिया दातार किरदार गिरी बनवाजा सूरे बाही दातड़ी जाज खटू की हड हाँ। जो भाई वह तो बावड़े जितो गया बेराना छड सूरे बाही दातड़ी जाज खटू की हड जो भाई वह तो बावड़े नितो गया बेराना छड वाह बाबा जुगाम बाबा और जाए नीचे जाके ये पपैयो बैठो है ऊपर शिकरो है जो शिकर लगाए रहे है नीचे जाए आई डी बैठो है अरे पपी जण आए भगवान तारा भलावे तारा हमें तो मोह थई ए परमात्मा तू तारे तो तिर जाऊ मरण तो दिए जुगा बाबा अरे उस भगवान को शरण करे है ईश्वर को नाम ले है भी टेमरे माले कानी करना भगवत गावया ज्योतिष रूपी का पपैया बड़ डंगरो तेरे ऊपर भमे सीतान आएड़ी शर संधियो हमें किशब्द पंचे पिरान पपैया बड़ डंगरो तेरे ऊपर भमे सीतान आएड़ी बिशियर डंगो भाई शब्द बंजो पिरान कुकर बंजो रे भाई के यू यू बंजो हम्म। के उड़ियान के वान सीजान ग्रह जब बखान जब कबान धरियो सर रे काल कु काल भमंग डशो डिग बाध के जाय लग्यो सर रे जिसी के ऋषि पाल गोपाल धनी तो के मार न हार थको कुण रे डाकन भूत मुसान न मैं नर कुंडन मैं पग जा धर रे संग मति थर वार न शहर न भारत बीच फिरया कर रे हाँ, हाँ, हाँ। जिसी के ऋषि पाल गोपाल धनी तो के मार न हार थको कुण वाह वाह शर चूकी मुठी डिगी हाँ। जाय लगी सिंचान आहेड़ी बिशियर डंगो मारो शब्द बंजो पिराण सर चूकी मुठी हाँ। डिगी जाय लगी सिंचान आहेड़ी हाँ। बिशियर डंगो मारो शब्द बंजो पिराण बा अठी में पूरो तीर कबाण हांदियो है और भैया मैं बा हूँ बी टेम शायरी कुदरत मारे दीन दयालुगी बजे क्यों बातें करो वाह हरी वाह तकी हमें तू ही तू कर तो हर बकिया होकर बगता है तो ही सखी सरवर ही गिरी परवर तुही हंसा ही सरवर ही कच्छ मच कारण पायो को कहीं तो अल्लफ नाम ही तुही ही सखी सरवर ही गिरी परवर तुही हंसा ही सरवर ही कच्छ मच पारन पायो को कहीं तो अल्लफ नाम अल्लख ही पगड़े कन्हई बिल्लो बिल्ले मांग वासक नहीं निकलियो कालो ઉને તો તીર હું જાણનો હોયો બી તીર મીંડો ફૂંકાર માથે ફટકારો લાગનો હોયો જુગા બાબા ગરીબન વાજા ભરત બીગી શર ચૂકી મુઠી ડીગી જાજે લગી સિંચાણ આ હેડી બિશિયો રડંગ્યો મારો અશો બધો બંજો ફિરા સુકી મુઠી ડીગી જાજે લગી સિંચાણ આ હેડી બિશિયો રડંગ્યો મારો અશો બધો બંજો ફિરા જુગા બાબા किरणा भगवत का ज्योतिष रूपी महाप्रभु है तो शंकर के कोई कल पानी और इमृत कोई मोल लावण हो कोई बिन टेमरे माहरे का नहीं टूके टूके केते की झरणे झरणे जाल अबुरी देखा देखदा मन बिजी न आवे दा जो टूका टूका केते की झरणे झरणे जाल अबुरी देखा देखदा मन बिजी न आवे दा मुकुट गंगल हले हाँ। चंद लाड़ झलक के दो मचकर दर हरे हाँ। मृग सी के फूंकारे हाँ, सिंह बहर दो सिंह सांडियो न मारे उड़ियाणी कंबर कसी आरंभ दे के ईशर तनो देवी हिंगड़ाद हर हर हंसी मुकुट गंग गल हले चंद लाड़ झलक के चकर दर हरे मृग फीके के सिंह बहल दो सिंह सांडियो न मारे उड़ियाणी कंबर कसी आरंभ दे के ईशर तनो देवी हिंगड़ाद हर हर हंसी सी हाँ, हाँ। जुगा बाबा गिरी बनवाजा करना भगवंत का ज्योतिष रूपरा एड़ी बात हो जा गई है ओ बाय प्रो अर शंकर महादेव पार्वती जी अर बु आवे है हम्म। शिव जी महाराज तो नादिये माथे रहा है हाँ। पार्वती जी शेर रे माथे रहा है शेर किने के भावरो ही एक गदशार चार गज मकड़ी छग गज साडा पूंछड़ा के छोटा सा कान ઢોંગસા મસ્તન દો નેણ ભડકે પણ પીર લંજેરી ખોપરી બાબાના નાટ ભડકે ये गज चार चार गज मकड़ी की छग गज सादा पूछड़ा धड़के हाँ, हाँ। छोटा सा कहान भूंगसा मस्तंग दो नैण भड़के पण पीर लंजेरी खोपरी बाबाना नाट भड़के जुगा बाबा पार्वती जी शेर माथे चढ़ड़ा है हाँ। और पार्वती महाराज आगोर घोड़ो काढ़ियो है नांदिये ने हर पार दिल जाके आ हा हा भला भगवान हाँ के कुदरत की भी मारे दाता हाँ। ऊपर बाज भवे ओ जके रे माय तीर पड़ियो हाँ। तो ओ तो के टाइम तीर हूं मरियो हाँ। परमात्मा ज्योतिष रूपी ओ के कारण हूं मरियो भाई भाई तीर देण भाई दूजो कोई आदमी कोई ओ के कारण हूं मरियो शंकर महादेव ने लोक रे ए पार्वती जी शंकर हाँ थोड़ो उबर राखियो बाप जी नांदियो वाह नहीं नहीं पार्वती क्या बात कर रही है कोई घोड़ी है क्या है चलिए आओ हम्म। क्या है कुछ नहीं तीन सौ साठ बढ़ता है और तीन सौ साठ हाँ, दिन का कुछ बात कही नहीं तुम चलिए आओ हाँ। ए जी आप देखो तो खरी अरे आप दिया बेचारा तो खरी हाँ। ओ आप हक देख लो हम्म। हक देख अरे फंसे बनाई बुआ जाइए हमारा जोर कोई नहीं भाई भाई बात तो जोर तो शंकर महादेव पाछो बढ़िया है बीच मेरे मायले का नहीं आज देखे है ये हम्म। शिव महाराज वो तो तीर है हाँ। कि मैं वो बाज है ओड़ा वो है हम्म। इनने माए लागोड़ो है ठीक है ओ है आईडी चाहे आईडी हो कोई भी वो है करी है हाँ। ओ तो तीरू मर गयो पर ओ इनो शाशा क्या निकलो ये भगवान महाराज जो दीन दयाल आप फरमाओ हाँ। गणपत गण गाऊं श्री नवाऊं शंकर धाऊं निज नामी हूँ शंकर धाऊं निज नामी शामी निज नामी अंतर जामी अंतर जामी अविनाशी हो अंतर जामी अविनाशी क्या बात है अब नासी ओ तो साला अंतर्जामी अविनाशी माला मृगशाला लाला चंद्रलाला ला शामी निज निधनामी शामी निज नामी निधनामी अंतर्जामी अब नासी हो अब हाँ। अंतर्जामी अविनाशी अब नासी सापू की माला निज निधर साला मुकुट जड़ा ला जड़ाला ला शामी निज नामी शामी निज नामी निधनामी अंतर्जामी अब नासी हो अब नासी सापू की माला निज निधर साला मुकुट जड़ा ला मुति आला शामी निज नामी अंतर जामी अंतर जामी अविनाशी हो अंतर जामी अविनाशी पाकण कर धारी अर्ज हमारी पल में तारी अवतारी शामी निज नामी अंतर जामी अंतर जामी अविनाशी हो अंतर जामी अविनाशी दानु गुण गायो शंकर धायो अनदो पायो अविनाशी शामी निज नामी अंतर जामी अंतर जामी अविनाशी हो अंतर जामी अविनाशी जुगा बाबा भारती जी देख बोले हे महाराज ओ जोड़ो जीवित कर दो अरे मर गया आप तो के माँ ये पार्वती ये काल को काल खाया है हम्म। इसका कुछ होश नहीं करना है हाँ। ऐसा ये काल था हम्म। जिसके कारण मर गए और इसको जीना नहीं करना ये बाप जी आप तो शंकर महादेव दयालु हो अरे आप तो बड़ा ही दयालु हो हम्म। आप फिर को कोई प्रथमा है जगह में है कोई नहीं अरे आप बड़ी मेहरबानी हाँ। पार्वती है तो खोल्टी बात उल्टी बात है तो को कहता है तो मैं हर जीवित कर दूंगा कर्ज જટામીરો કશ લેબરો અરબીને માથે નાખ્યો है बील रे और हम्म। बाज रे हर हर हर हर हर हर हर हर हर करना हार उतरना भक्त को भरना हो जगती सके डर भागे भवनी लागे जागो गोरखनाथ दीजिए जागो गोरखनाथ सिद्धि पावड़िया पैर खड़क घुड़ता लाख मंडल घोटा हाथ लिया जोगी महाजोर जोगी महाजोर जलंधर जय भाई है भाई गोरखनाथ ऐसा भाई है भाई गोरखनाथ ऐसा हाँ। कर शंकर महादेव तो रवाना हो गया रोता है बस गिरी जाती थी आज मोड़ो गणो की हो टकरानी साहब ये अंदाजा जी आप मोड़ो थोड़ो यूं हो एक पड़ोसन है हाँ। बा मारे हाथे हालगी हम्म। बिन ने दो तीन मटकियां भरनी ही तो एक ही मटकी भरनी ही बारह दो तीन मटकियां भरनी जिसको मटकियां माते भीड़ गणी इन कारणों पति राजा गणी खम्मा गरीब बनवाद वो नपीर रो पीर अंदाता जी साहब इनो मोड़ो वाह जुगा बाबा वारान साहब समझ रो टेम गयो तिजारी रो वक्त हो गयो हाँ, हाँ। रा खुरड़िया में अमल ना कीजे अर गड़ाई दे तो सवा शेर रो मावो गरीब बनवाजा थोड़ो गणो हवा हेर हुए जना उगे उगे फचे तन धरे तर वारी जा जम घी जा धगे भेड़ा बहादुर सिंह ने घना लड़ा कारंग तन धरे तर वारी जा जम घी जा धगे भेड़ा बहादुर सिंह ने घना लड़ा कारंग फूटे गोला फिफरा तुरिया टूटे तंग साथ लड़ा सुर तन रे बारज पूता ने रंग फूटे गोला फिफरा तुरिया टूटे तंग साथ लड़िया सुर तना बारज भूताने रंग सागतिया घोड़ा घसे तोड़ा धुके ताठोड़ दौड़ा मुर दर दिशा रात ने रंग खोड़ा राठोड़ सागतिया घोड़ा घसे तोड़ा धुके ताठोड़ धोड़ा मुरधुर दिशरात न रंग खोड़ा राठौड़ रंग रंगीला ठाकरा दशरथ राम बेटा लंका लिवी शोभनी दे दे आखेटा रंग रंगीला ठाकरा दशरथ राम बेटा लंका लिवी शोभनी दे दे आखेटा रंग रागीला ठाकरा दशरथ राम पूता लंका लिवी शोभनी बंकार जपूता जुगा बाबा जिये देव सभा जिये ओंकर मरे वासना जिये जिये सभा को छत्रधारी भाई भाई बिना अथनी बात हुई हम्म। के भाई ये ठाकुर आदमी हाँ। खोपी तो तो कोई लकड़ करावे नहीं हम्म। तो आडो हाथ दे हाँ। बंधानी उठी जेनी बेही जेनी हम्म। कहीं कोवे नहीं भाई कटक आजे तो बंधानी केक रहे हाँ। गांव मां पहला धाड़ा दौड़ता जिके जना री टेबरी बात है तो के कर सके भाई કે ભાઈ અમને ઉગડો હોય તો હાથ બતાવે પર વાહ ઉગડો નહીં હોય तुम्हारे तो बिन समीकरणा भगवत ज्योतिष रूपी महाराज रा रिणंदा मोढ़ा ते मालो ता खरी जिठाणे घूंट हीर हाँ। जी ना तू भेड़ा दौड़े मुख पे बंगी मूछ धारा ना तू हीर जी दौड़े रे भाई भाई भाई मोरदा मोड़े रिणंदा मोढ़ा ते मालो ता खरी जिठाणे घूंट हीर जी ना तू भेड़ा दौड़े मुख पे बंगी मूछ धारा ना तू हीर जी दौड़े मोटा गुटा मोटा जुगाम बाबा ये देव सभा ये सभा दो छत्रधारी वाह चटक आए प्रो ले बंदूक का तलवारा तो बंदूक जद ही कोई तीर तलवार रो झगड़ो वाह बंदूक तो हमें बापरी है हाँ, हाँ। आ कदा वर्ष की बात है ये अंदाता जी साहब कम से कम हजार बारह सौ वर्ष हुआ ये बात नहीं वाह जुगा बाबा अरे कट गांव तो गांव रे मार फिर हम्म। तो धके नानिया तो धके ही ना है हमें हाँ, कुण हमें भी राजपूत कोई हम हम सके रजपूती चावड़ जती खरी देहली हो जा के जू जू बावे छिलड़ा बा जू जू उजड़ हो जा रजपूती चावड़ जती खरी देहली हो जा जू जू बावे छिलड़ा बा जू जू उजड़ हो आगे डालो का जुगा बाप एनी ना जेर का हुए हां तो मैं आ बात समय है वाह समय वो कारण है हम्म। कारण के है यूं कहे के पुन पियाड़ धर्म दशग्यो धरण में फिर की उल्टी रीत हाँ। पाप भयो वर्ण वर्ण में जर हर के दो मिंत लड़े के नर नारी हाँ। जरो राजा करे शन्याल हाँ। जगत पति विखियारी और पत दान निर्पत मंगो एक सील संतोष का गयो केवत एक पिंगल के है तो हड़ा बोल कोड़ जग भयो वाह वाह वाह को पोरो है बाटे सतजुगो पोरो हो वचन चूको ऊपो सूके धोबी कुंड में पड़े वाह हमें जाका जी मंडी हाँ कोई बाणियारो घर खो है हम्म। कोई राजपूतारो खो है हाँ। कोई बामणारो खो है हाँ। तो दो चार मार बामणारा घर लखपति हम्म। मैं कह रहे बाप जी मैं तो ब्राह्मण हाँ। किणी क्यों मैं यहाँ डाडी वाह किणी क्यों मैं यहाँ ढोली वाह ए अन्नाता जी माने तो मत मारियो मारा हम्म। दा घणी खम्मा और दूजा ने तो माँ आडो फिर जे कोई और मारो कहने कर तो भला बदो वाह तो जिते ही अमल हुगो नहीं उड़ी कर गई हम्म। हो फिर लुगाई आई भाई कटक आ गयो खालो गुरगोदन ही कर गयो है घरे तू नहीं गया हाँ। के भाई देखी छे छे कर चरावे छाड़ी जे साहू के संदे धोरे माय जड़ू के शरण हाँ। रात पड़िया जर रंदे हाँ। छे छे कर चरावे छाड़ी हम्म। जे साहू के संदे के धोरे माए जड़ू के शरण रात पड़िया जर रंदे वाह भाई सालिया साल में गया है ए बारे जिको जी आया कोज नहीं अरे काली भाई गांव लूटे एन गांव ने खो है हाँ। मैं आपा के करा हम्म। तू कही के मालो गुरगो दणी तो बतोल हूं कही मालो गुर तो मालो तो बंदानी हां जना हूं कही के भाई बंदानी है बाकी हाथ में हाथ को हाथ को बने हाँ, अरे उबा होया तो आज बताई दी बा हरिया गोखे का डोगात हाँ। अम्मिया कहती उकड़ो बो आयो सुनी जे आज जोवो जोवण हरिया गोखे का डोगात हाँ। अम्मिया कहती उकड़ो बो आयो सुनी जे आज आज नाम हम्म। दे मूछरे माथे हाथ तेरो हम्म। राजपूता के हम्म। ए ओई आयो हां मैं बजे गणे में तो के है पर पर पावर पिल्ड के पर इंद्र धड़ा जू आए अल्लाह भला अल्लाह भला जण इंद्र जाओ रे हां आ पांच हाथों के चार हाथों के दस मलावत जगो मादरी आवे तरवार हम्म। ओ बाचा एले एले पावे जुल भंग गयो चार पांच हाथ जना हाथ कोई पर आई नाटा हम्म। नाते हमें जग्यो चौधरी हम्म। अरे तू कौन है ए बाप जी मने मारियो मत ना हूं तो है ओई तो ही जाऊं मने मत मारियो हूं तो गांव में होई कोई नहीं थे कौनो अरे माने मारा आदमी मार दी ना ओ कौन है रे कैसा रजबूत है दूजो मैं कौन मारे गावरा ठाकर है बंधन आदमी अभी चाया रहा की करियो अरे आया की मत मारे तो चार पांच आदमी खराब कर दी अबे भी थोड़ी पड़िया और जो मेरे वाल तो माने खत्म कर दा पर भाईरा मैं मैं तो ए जावा हां थारे डूबे जो कर दो जुगाम बाबा तो भगवान ने आ बात कही है हाँ। जो मन जीवनी बात करे हम्म। तो हर जीव की करनी और मन जीवनी बात नहीं करे तो भी यू ही करनी जुगा बाबा सुशी हाँ सुशी हम्म। हाँ। बैठा माला फेरे हम्म। तपस्या करे अच्छी अच्छी हजार ऋषि मुनि वाह आप रे गांव रह कर तपस्या करे ए उड़ी कर जी लुगा बाप जी किनी के मारे गिरगे दनी लागी किनी के मारे गिरगे दनी लागी किनी के मारे गिरगे दनी लागी दो तीन एक बे पुकार लेन गई और पुकार ये अंदाता जी आप ऋषि मुनि हो थे परमात्मा रा भगत हो हम्म। और परमात्मा थारो वचन झूठो काटे कोई जो आप कहीं हुए हम्म। तो तो कर सको हम्म। और नींद न माऊ कहीं हुए कोई नहीं ए भाई शंकर दाड़ा जाया पलके कोई हाँ। वो बाबू भी न्याल करे भाई ये दूजो में तुरुषी तो माला फेरा हाँ माऊ कहीं वे कोई हाँ। वो बाबू आवे तो न्याल करे गया क्या कटे कि मैं अठे राज था का बठे भी फलाने ऋषि कने का फलाने ऋषि कने का फलाने कने हां भांग में फिरे अठे ये भांग में है हम्म। अब धू तो योड़ो है हाँ। आ हा भांग धतूरा घोट कर पियोड़ो है हम्म। अली लोट वाह महाराज जाए अरदास की भी है ऋषिया हे बाप जी एक अर्ज बारी होड़ो अरे भाई क्या है तुम तुम्हारे बैठे माला फेरो हम भी माला फेरते हैं तुम्हारे क्या अर्ज है और क्या लेना है तुम्हारे ये अंदाता जी मार दो कहीं को लेना जाओ रे माँ खटक आयो मिनख मर गया कोई सोए बंगो में मे वाल के करा आप शंकर महादेव अठे आ गया हमें बंगो कहीं वाल वे तो करो नहीं रमे तो वाह अरे बच्चा हम क्या करेंगे तुम भी करो कुछ ए अंदाता साहब माऊ जो हो तो हुए आप कर तो मैं आपका नाम आई क्यों गिरी पर्वत आप ही करो आए बरा हमें कृष्ण आग बरो सारा शापता ने कर सजीवे त तो शंकर महादेव कैलाश में गया बरा हाँ। राजपूत आपरे घिरे गया बरा दाता रानी बातड़ी दाता राम भावंत बैरी मंगत पावनो वो अण सिंचो यावंत गाय प्रवान डालू डाडी पूरी कर दीनी और सारी सभा देवता हो वाह वाह वाह डालू वाह वाह किसान मंद वीर हागड़ो धागड़ो गुदण नेम आखड़ो बाखड़ो सूर्य सत कर्ण सेव रंगा धारे अन्नी कोतार भार भुजाली दरगु शीत काम सार धार मुन्नी रूप सिद्ध फबी भार मार डार पिग संवत्सक पड़ी सार धार शंकावार पूदरी समंद अनुरंक बाल धाड़ प्रजाड़ पयंद हले मिले भाड़ संग माल काराम की राल संचाल समामात हवेजदा हुक्म सोमाल औधारत मोहार विद्युको मधु सुरूष अखुष पथादार अखार करने आले खड़ा दाम तमोतार सार भार अखे किवार कंद तोड़ रार बार धार जीत क्रीत बीच राम इंद्र जित मिंद्र राण कुमिर मियांद अरे भ्रे नंद के सरिया गारद गो भेड़ खेर धीर पतिया सुकेर वीर मोटा नाथ तणा है तो रे भांगड़ा सुनो आप हजूर बंकड़ा बिहारी जति शंकरा मिटना वीर सधीर कार्य जति धरा तो लंगड़ा सलाम अंजनी वाला निमो निमो रुद करे रतन प्रणाम शंकरी गव्यवार शंकरी आवो चवंड आप बाल बालक परमेश्वरी मत वाली माँ बाप जो सगव्यवार शंकरी आवो चवंड आप पादों बालक परमेश्वरी मत वाली माँ बाप चावंडा पंखा लंका लेवण लुथाए दो करो कंका कंकाली बात कड़ा मधु कोप मालती रमंती सहेलियों सात झिणो गुंगट करती सो चावंडा रो हाथ सिरे भवानी माता सुधरा आप सागे लागे पाए चंदी तारे लाखों आवे लार बिराजे मिंदर मोही सोड़ई सिपाव पदाम रोड़े भूतोने देवी देत दिना मार खेलावे भोपा तो घना गहना पेरंती ખૂબ જડાવ મોતિયો પક્કા પજબંધ જોઈ પેરંતી હાતારે બીચ ફુલરા ગજરા પણું કુદાવે સિંહ ને દેવી આખો આગ કોઈ ધોપ તો નાળે ન ચડે ઘસ દિયો કી દબે બટક બોટ ખાદરું લાગે કી બાણ અત અધુરા પ્યાલા દેવી લીધા આણ મેટ જો ધસીને ખસી દુઃખ પીડા આપ મેટો મંગળ કેવટ મેટો ઓ દુઃખ પીડા આપ મેટો કરો સરે સાય बाढ़ कौमरे सो बिगड़ी चप्पो तो चिंतने तो मिंद्र देवी आगे जाय मा तो पेट अंकताओ मेट जो श्री मुदे आई जो भटर बेल जमुनारो पा सके सपी देवी धारो सदा साप पिता राम सा सम्मत गणेश हो सिरे बद्ध पुके असी हो जान माता तणो छंद पडियो जुग जुग अवतारा जान बेबाड़ो ते कमान जे राजा भोजी सभा जे हों कर रो देना जे बात रो कहना बात में हाँ करो बाद में नंगारो नंगारो करे अगर दही अगर दही सावड़ मुंगोरी खींचड़ में ऊपर दबाव रो भावे जहाँ जीमी हो जाओ रे डोडो हुंकारा दियो जाओ महीना रा हाडी हाथ भी ले आई जाओ हमें केवन ने अपन बीरा हवारा देव ने नहीं पलू पछी जोई मती एक समय जोगरे माए दुगावती नंगरी बिनरिए राजा करण राज कर रयो है दातारे दातार जुंधारे जुंधार अनियरो बाज शूरवीर खत्री पटकीड़ो नाग झिगजोड़ो सोनो सोड़ो केमल जड़े मिंदा भिड़े हाथी अंगद हवेश ओ पातर नसै निरित हवे अखाड़े इंद्र उदेश तो राजा के लोग शरीर स्वरूप है धनिया रो धनार है और आया रो आदमान है और मान रो सम्मान है जिन्हें रानी करी के अंदर कसुम्बा बीरों ढोड़ता चंदन पमंगा सात और कंठी माला पैराना ने हियो हमारो हाथ तो धरे दिया अपने राजा लुगाई है और अस्त्री जिन के बाबा रड़के खड़के बिराजे होय तो नारी है हार मन नोतिल रानी ब्याज मानवी राजा साहब ने कहो महाराजा धीराज आपरा घोड़ा आज कट समारिया दोनों राजा बोलिया કે ઘોડો લારે સાણી ઓ તું ક્રૂડી ધજ કે કોણ પિત્તળ હંદે પાગડે તું મોતી ધર દે પિલાણ સટ રાજા ઘોડે સવાર વ્યાજ टाइम में घोड़ो के सो गए કે યોર સૌડાતી ઘી કનોથી હો કંદ બંકા લદ કોણ એને નોણા ઓળખો કચ્છ ધરરા के कौन अनेक तरह रो घोड़ो है आप सदमान विराजमान हुई गया है और हवाली मोहाली कामदार कोटारी भाई बंधु भगत सिंह बागेलो सावंत सिंह झालो यो करने कासर हजार भेड़ा वो ने शिकार रवाने हो ये गया गया है इन्हीं टाइम में मैं जाओ तो जाओ तो डावा जीवन आती थी अब बोलिया है मिठा सुरा गा दिया है पिनियारी लटको कति गुंगट रो हार बेवड़ो रो बेवड़ा लेवती थी कि सम मिले गई गई है सुगंध बहुत भलाई है ठाकरो सुगंध बहुत भलाई होया है यहाँ सुगंध रे माए तो भाई यहाँ है कि जेड़ो अपने रुबाबे जेड़ा सूर नार सिंह समर लाओ तो रजपू देव तो रेवे को हो जाए नहीं उन्हीं टाइम में मैं धरा धरा घोड़ों माते चढ़ते ही धका है धके निमान नाडी तो आए जो है के मीठा जड़े मोर बोलाए पपैया तनी पुकार वे जड़े ठंडा हमें ब्राजो राज कमार कमार ये ब्राजमान हुआ है अरे हमें तो जड़ है और पपैया बोल है अठियों डाडो सूर आयो है सौ बरसो सूर है पच्चीस मोरा राजा है अरे और ने पांच मनो भालो है भालो और हूरे लाल दबटाई मान हुआ है गया है जगेरे डहान गोरा गड़न हाथियों देनी हमल हमल हमारे सही धने मानवा मीठे पधारो अमल अमल गलिया गलिया मल्ल ते राजा विराजमान या ठर ढे का देव दे घोड़ा रेड अरे हां जवानी हुए ऐसे को बारा को से भान में बारा अवतार सिर हो जिगने बार ना कियो है ना कियो जोने सौंदर्य में तार निगारिए अरे फूल मार दे तको राजा देखने बोलिया भलो खुले को नहीं आजे मो वाह वाह કેલા ખાધન દેવતા હતો દેવને હજુર હજુર પમંગ હસડે પધારિયા રંગ થને રાય જાલા સુર સુર કે કોકડે બંદિયા કેવડા અંતર છોએ ઝાલ ઝાલ હાથી માથે કેવડો કૃષ્ણ અમારો પાલ બાલ વાહ ભાઈ વાહ ઠાકર સાહેબ વાહ બા અરે મારી માતા તને ભલે જણિયા હે અરે અહીંયા તણા તપખાણ ને ખાડ ખપ દેને બાલો હાથ હું ખુલે ગયા હે हल ताईं धको न राजा ब्याज मोहन होई ताईं तो धका न जट सूरो जी शिकार वाह वाह खेल न आया राजा रा बुधो हुए हुणी जिंदगी जे मोए पासे ब्याज मोहन भैया तो बाग बगीचा बाग नहीं तेरे अरे सर के बागों सिब से बावरी आगो को सब गिरनार गिरनार सुरपुर शहर सुहावणो बहोड़ा चौक बाजार बाजार ओ बागों सिब से बावरी गो को सब गिरनार गिरनार के सुरपुर शहर सुहावणो बहोड़ा चौक बाजार बाजार ओ बाजार जट बाग में आई विराजमान व्या पीड़ा पाठी जाजमो ढार दिए अरे भाई बंधु भेड़ा हो गया है आलिजा भवारी गोट पी लिया है आज कुटका ले लिया दारू दा वाह ये दारू दारू अंदरो दारू दारू फेर फेर ये पांच रुपयों भर भाव है और सौ रुपयों दशेर दशेर दारू पीता दान देवनो हक मतनो हजूर हजूर आ बात शिकारो तनी सुर नर हो जो सूर वाह वाह आव कनी राम कई बात सुन जो सही हाथ ये राग जो विचार न जो जो सकलो ही सार सार हो सार ओ ओए के ओ में एक जो શેઠ છો શેઠ કેરો કે आपने के बड़ो कवि आदमी और शादी अली गांव रे माए के राव कवि आदमी वाह वाह बगीराम वो भी बहुत बड़ो होशियार होशियार देना उन्होंने बगीराम देख के कि भाई अपने एक सेठ रो गीत बनाए दो हाँ। हाँ। तो गीत बनाने जाने सुनाओ सेठ ने तो हमने कुछ न कुछ दाता रही देवे उन टाइम रात दो तीन दिन आप खोटी हुए आ न उन ढंग से वो गीत विनायो विनायो कहा कि भैंसरा बावरो भैंसरा बावरो विनायो जान सेठ ने बोला कि साहब सेठ जी मैं आप गीत बनायो हूँ सो आप मारो गीत सुना लीजियो तो के भाई कल अपने करो सभा सभा में आप बता आय जाजो जाई जो सो गीत होना लीजो उन टाइम रा आपसे सुबह री टाइम भी है नवा शाम री टाइम भी है उन टाइम रा सभा जुड़ी है ආරමලා ගලරයාල අමන් ખોබ චිත්‍ර થાටු බෑට ගියා તો દુર્ગા તું સભાગિયા નિત ઉઠ ભગવદાય કે યમલ યરંગરા ઉતરે યાદલી ધડકા ખાય इन डंगरों अमल फिर रही होए आर नटी विराजमान सभा वे गिए उन टाइम बैठो वे बगीराम आर ने वो गीत सुनाए उनसे ने શેઠને સુણાયો જેને ટાઈમ રાવો શેઠ પાટો વહેતો ઈ પાતો ના આપ દૂધો મને ઉતર દે દિનો હાગેરો હાગે ગીત હાગેરો હાગે પાતો ગીत કે સુણાય दिए ઉને उन टाइम रा बगी बोल बगी राम बोलियो के सुनो सेठो के एक बात मु भूल गो मने चीज रो जात नहीं तो पर हमें मने खबर पड़ी जगह आप तो मैं क्यों जो सुना नो उन टाइम रा बगी राम खड़ो वे आर ने बोलियो के पो फाटी पर बात वा गई उछरने गायने के मिलियो चरण भाट वो मुता थारी मायने मायने तो आप कह तो चरण रा भेल आर ने कह हो रावरो भेल इन मने बैठ दो आप लड़े क्या कर ना ये मत कर भाई आता ने दिनी तो बैठ जब हमारा पहुंचे समारा मनी ये मुंगा हम ओलरी याद के ये ने भाव में वाती ने सो रहा तोलरी जीव बुरसी बैठ दे रहे बुरसी बैठ दे उन्हीं टाइम आपने बैठ पकड़ा है दिनी भले दिन पंदरा पेंडे जी पाखी बोर बोर के घर में डल घोड़ा जाने जीव लाडू जी मारे जोर कोई न रसुता कोई न जागे जिनारी पगड़िया ढोलिया रे भागे कोई आवे तमें तेरी जगह ले लेने परा भागे भागे ओ भागे तो एक समारे मायले का नहीं एक राजा था अरे राजा जो को आप कहीं करे वाह वाह के पेट में आदान को नहीं वाह वाह जन कहीं कहे कह दो लगनी हां के अनधन जमीन दये रे भरी आरत ने भंडार भंडार के सुनो इन संसार में वो पुत्र बनो संसार परिवार परिवार हो परिवार हां जो अनधन जमीन दये रे भरी आरत ने भंडार भंडार કે સુનો ઇન સંસાર में પુત્ર બનો પરવાર परिवार हो परिवार જો आओ ઘણો सा। હારો ધન વે अरे और घणे हारी दौलत वे तो कोई दुनिया आए ने पूछे कोई नहीं आज पूछे कि तुम्हारा बेटा कितना है हाँ वाह वाह केवे के अरे सा हाँ तो इन समय रे माय ले कानी जने आप राजा रे जो पेट में शतान नहीं कौन है तो एक स- जोगी आयो वाह वाह जोगी आयो जो को वो आप जो को हाथ में यूं फिरे गांव रे माय अरे કે એક થેપડી દે તો એક પુત્ર દેવો દો થેપડી દે તો દો પુત્ર દોય દેવું કે વાહ વાહ થેપડી આટે બેઠો હા અરે સા કે રાણી મન મેં વિચાર કર્યો એ રાજાને કયો કે રાજન તો કે હા तो के एक जोगी आयो है आयो वो बोले के एक थेपड़ी दे तो एक बेटो दे दो दे तो दो दे देऊ के राजा मन में विचार करियो के रानी अरे तू पागल बन गई वाह वाह तू वो डोरो कह तो मु बना दूं आप दी हाँ, गांठ बना दूं हां ए गांठ बना दूं आप दी हां जाल बना दूं अरे जोगी बोलो के नहीं नहीं नहीं के मारे वचन दो कही है हां बता को नहीं बता नहीं तो आप जोगी जो को आप दो बने ठेपड़ी बंदाई दे दी दे दी जाओ बच्चा तुम्हारे दो पुत्र वे के होएगा तो राजा अब दो ठेपड़ी ले लिए अरे भगवान री कुदरत बनी और नम उन टाइम रखा बोले राजा अरे तो कहे बाबा जी दो पुत्र हो जाए तो एक पुत्र आपने दे दे दे दूंगी तो कहते अच्छा, बच्चा तुम्हारा हो जाएगा अरे तो। उन टाइम रे माया लगानी जो आप जो वो राजा ने उन कह दियो कह दियो जाओ बच्चा तुम्हारे भगवान देगा अरे ईश्वरी कुदरत बनी नमाज पूरा भी अनेक पुत्र जन्म गियो है मैं दो चार दो बार तीन बार भी आना दूजड़ो ही गियो दो पुत्र भी गया तो उन टाइम राजा को साधु बोलियो बोलियो मन में विचार करियो कि देखो हालो कोई बात है हाँ, हाल दिया कोनी कोई बात है एक रुकियो डोन हां आप जादू जाने का आला काला उन टाइम जान बोलियो बोलियो ला बच्चा पुत्र एक हमारा हां मारो एक दे भाई एक मन दे अरे राजा मन में विचार करियो तारी मारा रों के तो दोई बराबर भी आ करे अरे અમે એક વાંક કોઈ ફોડું કે એક વાંક રાખો રાખો કે અમે ક્યાં બેઠા ને દેવું દેવું રાણી ને કે રાણી ખેંદર કે બાબા ને કહો કે રાજા ઘરે કોની જો આમ કે પાછા આવી જણે આપને દે કે દે અરે क्योंकि बाबू जी के राजन घरे नहीं रहे अरे जो आप हमके फाचा पदार्थ लेने लेने जा जाओगे जाइजो साधु गयो परो दो बार तीन बार पाचो आयो आयो अलग अलग लाओ बच्चे हमारा पुत्र हमारो दे भाई एक हमको दो अरे रानी मन में विचार करियो कि राजन क्या कह रही है साधु हाँ साधु कहीं कह रही है क्या क्या पुत्र ने दो हाँ किया ना दिमाग खारो कियो ना मीठो कियो अरे रानी कह दे के राजा घरे को नहीं को नहीं हमके पास आओ जने लेने जाइयो जाजो के बाबूजी न था घरे को नहीं है राजन जो घरे आवेला उन ना पाछा पदार जो आपने दे दे हूं दे दे वहाँ अयो करतो करतो पंद्रह सोलह सोलह बरावे वेगा हो गया मोटियार हो गया वो जोगी पाछो आयो आयो અને કે સાઈ દાઈ રા છોકરા રે મુછો વાળા બટ बट मन મન મેં વિચાર કર્યો રે રાજા રો તો બાબુ પાછો આવ્યો બેટો હા પાછો આવી ગયો કે હા તો કે રોણીઓને के દે કે રાજા ઘરે કોની કોની के रानी क्यों के बाप जी के राजा घरे को नहीं के बच्चा रानी जो तुम्हारे घर पे नहीं है तो एक बच्चा का दोनों ही मर जाएगा के हाँ दोनों मर जाएंगे हाँ राजा मन में विचार की दौरे थारी मारे पता तू तो पाते हैदर पर आवे होंगे ओहो हैदर हाँ। कर दिया ओ अबे तो पाते हैदर वे जाऊं कलदार के वे जाऊं नहीं नहीं एक दो रही ला रहे अरे रोनी रोनी हिलो पाड़ पाच हो हिलो पाड़ के पाड़ के हाँ के भाव जी पास है पता पधारो थोड़ा के अरे पास आया नहीं किया के काई तो एक पुत्र आप लेने जाओ उन टाइम ना दो ही भाई बोलिया बोलिया अब नैन किया तो कह के जाऊं मैं अरे और मोटोड़ो कह के जाऊं मैं के मैं अब दो ही भर आपस में बात टपाटप चल रही चल रही उन टाइम राजा बोलिया के भाई કે થું હે વડો અરે અરે ઓ હે છોટો છોટો જો થું જ જાવ જા મોટો ટકા રવાને વે ગયો તો રવાને વે ઓન ટાઈમ રા એક જો ડબ્બી छोटी सी अरे ઓન ડબ્બી રે માં જો કોઈ કંવળો ફૂલ हो गालियो गालियो कौन वन कवर मोटोड़े अरे छोड़ गया बहन की भाई ये कमलो फूल है गालो जो ओ आ तू डब्बी थार कने राख ले राख दे जो उन टाइम में जो मेरो मृत्यु हो जाएगा अरे उन टाइम में वो कमलो फूल हुक जाएगा हुक जावेला और जो जिंदो रहूला तो रुके नहीं तक वो कमलो फूल हुकेला कोनी कोनी तू दन में दो बार तीन बार ने हमाल तो रहे रह जे जो मैं खत्म हो जाऊंगा वो कमलो फूल हुक जाएगा हुक जाला तो के अच्छा ठीक है वो कमलो फूल आप डबी ले ले ली और आप जेब में गाल दी गाल दी अब उठो वो कमर रवाने भैया तो आप रो वो डाना वो महाराज को वो थैलो ही दे दियो उन्हें कंवर ने तो दंड कमडाली दे दिया हैंग उन्हें अरे सब बार बोझ हजो कोने दे दियो वो कदी राजा रा कंवर तो वे कियो के कटे राज रे वने कटे नाई रा तेजा कुटा अरे तो कदी तो वो हेड़ा बाहर लेने आ लियो पर तो भी वनो राखणो पड़े राखणो पड़े आप खवरे माए गाल अबे धके धके तो हाले बाबो बाबो और लाल लाल वो कंवर जाए हाले हाले जाता हूं जाता हूं आपरी धूनी माथे गिया गिया तो वो कौन है तो अंगोरी है तो अरे कौन महाराज महाराज अरे तो अंगोरी बाबू जो अंगोरी किन्ने किया करे कि वो मिनक खावे खावे ओ जाने क्यों कचा बचा ऐसा करो ये रख दो यहाँ नीचे अरे ठेला थाली नीचे रख दिया बाबा तो ऐसा करो ये करावे देखे धूनी के ऊपर चढ़ो चढ़ाओ कोई करा हल्दी दाना लून मिर्च मसाला तेल तमाम सब मान नेक दो नेक दो नेक दिया अब इसके हेठ के हाँ दोगे वादी चल वादी वालो हाँ उन टाइम में वो वादी थे दियो दियो ना में वो तेल कलकला हट कर डूको अरे कलवाल कलवाल कलवाल कलवाल वो करन डूको के उस वो बोलियो महाराज के बच्चे ऐसा करो इस कड़ावड़े डोले डोले फिरो ना हो ऐसे बोलो कि वो हो आज मेरे महाराज के खाना बने खाना बने ऐसा बोलते बोलते इतनी डोले डोले फिरो हाँ ये फर्क मा देखे हाँ उन टाइम रा वो कमर बोलियो मारो बेटो वो मती नो मन माय नो कियो ओ इरे जजी की उल्टी दिखे है जो ऐसा करो कि कुछ न कुछ अपने उपाय करो अरे के बाबूजी मैं फर तो हाँ। पर पहले मैंने फरने बताओ आप हाँ, मैंने बताओ इनके उपाय किन ढंग से मैं फरू अरे जैसे आप बोलो जैसे फिरो तो मैं पता फिर जाऊँ हाँ। अब महाराज के अच्छा ऐसे भरो बच्चा क्या हो आज मेरे महाराज के खाना बने यू करने पटना में नहीं ढका आयो बड़ा के अरे तो ठोकियो ठोडो दे, दे कराओ रे मैं महाराज तो करोड़ करोड़ नहीं बेटा हिंज का है सीताराम भी गया जट ऊंटो लेकर अन ऊंधो मारियो मार दियो हिट भेज भैया हिट उन ऊंधो मार दियो मार दियो अब मन विचार की तार मारे ओडियो है ना है कोई है काई के जट एक तो ओडियो राडो खोलियो ने के माय घोड़ो बपन पंखो अरे सा तो घोड़ो केड़ो केड़ो और चौराती की कनोठिया लगवन लागद कान कान केवण दीटो पर होए कस बजरा के कान के कान उन्हीं के पांचड़ा घोड़ा है अरे के घोड़ा ना ना ना ना ना तो करियो करियो साधु बोलियो के भाई नहीं जाने बाबा जी आने अरे मोटोड़ो घोड़ो बेटे मार के ना आई जाइयो आ जाए और नैन के बटे ही रे जाए मोटोड़ो घोड़ो मार कमर के ना आए उब गो अरे दूधड़ो आडो खोलियो के माए कुत्ता उबा दो उबा बनी के नव तो जोद अरे सर ओना जो को मा हाथ रे मा कोटो घुसो भागो घुसो भागो अब वो पड़ियो आडे पार जो पड़ियो पड़ियो डाडे रियो डाडे हां ने उन टाइम रा वो घोड़ो लेने आयो आयो ने कह गयो रे थारी माजड़ी उठे बार बार छोई कोस री है भाई है और कोई मिनक मान में है नहीं है नहीं अठे कोई वो डाडे रियो ओ कहीं बोल दियो ने के आप धके जाए ने के नव तो जोद पड़ियो पड़ियो ने के वो पाजो घोड़ा ने फेरियो પંડ્રામ રાખ્યો અરે ભાઈ ઢકે ફાતે મટી જાય છે અરે થોડોક ઊભો એવું કે શું હે મારે ધર્મરો ભાઈ આ જો થારે મારે બીચે રામ હે મેઠને કોઈ હલકોઈ દેવું કોઈ કોઈ નહીં પણ એ ગાડી કર કે મારા હાથરે માં ગોચો ભાગો હે જો તું બારે કાઢ દેવું કે કમર મન મેં વિચાર કર્યો રે થારી માં જેડું મું અને ગોચો કાઢું ને મારો બેટો ઓહે નવો તો જો અરે ઓન ટાઈમ આને કણી જો કાલે આગીને મારે હાથલ ઠોક દી તો મને પ્યાળ માં ગાલ દે लड़कियों के भाई थारे मारे पीछे राम है अरे मैं तेने हल्को ही नहीं दे नहीं दूंगा राजा रे कंवर जट आप जाओ तेने घोड़ो बांध दो आ न जा न कने उबो तियो के रे भाई मु तो गरीब ने की कर कोई ढंगू काडू हां तो के भाई यूं तो मत कर अरे और मने रोष आवेला इतनी परतम तो हां हाँ। जो आई जाला बा चार बर्दो बर्दोरी छावर परी अरे बा छावर लाने तो मार मुंड आगे मेल दे नोक दे जो रोज आई टाइम राउंड मत आता